ऐसी ऐसी करुणा कृपा हो जाती है कि बड़ा बड़ा साधन करने वाले बड़ी बड़ी तपस्या करने वाले बड़ी बड़ी विद्या के जानकार व्यक्ति भी रह जाते हैं और भगवान कुछ भी ना करे और सीधा अपने गोद में ले लेते हैं जैसे सुरेश ने क्या किया कौन सी साधना थी कौन सी तपस्या थी कौन सी भगवत प्राप्ति की इच्छा थी कौन सी वक्ता बनने की इच्छा थी या योग्यता थी भगवान ने उठा लिया कुब्जा की कौन सी इच्छा थी कौन सी साधना थी किसी जन्म में कोई साधना नहीं थी और कुब्जा की अपनी कोई योग्यता नहीं थी वो तो मालिश करती अंगराग लगाती कन से और उनके पहलवानों की चाकरी करती थी और कृष्ण को हे सुंदरी हे सुंदरी वो देखे सुंदरी तुम्हें तो कुब्जा कुरूपा सुंदरी और कोई भाई है नहीं यहाँ आगे चलती गई धूल उड़ाती गई कृष्ण पीछे वो धूल उड़ाती जाए कृष्ण उसकी जुट्टी की धूल सहन कर रहे हैं और उसका भला करने का वो नहीं चाहती अपना भला और कृष्ण बोलते ओ सुंदरी ओ सुंदरी आखिर उसने देखा कि मेरे को ही बोलते हैं तो बड़ी ठर गई बोलो सुंदर बोले तेरा अंगराग देगी जरा सा हार बोले ले लगा लो जरा सा अंगराग लेने का निमित्त किया पैर पर पैर रख के थोड़ी को झटका मारा कुब्जा को कुरूपा को सुरूपा कर दिया कृष्ण लीला भागवत के आधार पर बिंद्रागमन में होती रहती है मंडलियां हैं कृष्ण लीला करने वाले तो एक पंजाब की बाई आती वृद्धा थी वो कृष्ण लीला करवाती और कृष्ण लीला में तो छोरे कृष्ण बन जाते हैं कोई बूढ़ी माया ले आते हैं कूब जा उब जा तो वो जब रास लीला करते करते वो छोरे ने लकड़ी टेक के आई कूब जा तो रासलीला में तो नाटक होता है कुबड़ी बन के आई और वो छोरे ने पैर पे पैर रख के सीधी कर दी वो तो पहले ही सीधी थी नाटक में कुबड़ी होके आई थी और सीधी बन गई तो माता जी जो राम ये कृष्ण लीला करवाती थी वो कुबड़ी थी अब भगवान ने उसको प्रेरित कर दिया वही छोरा जो राम रास लीला करता था कृष्ण लीला उसको भाई को ये याद नहीं रहा कि ये मैं पैसे देता हूं तब आता है छोरा कृष्ण मनता है कि प्रभु अभी अभी कुब्जा को तुमने ठीक कर दिया तो मैं आपकी शरण आई मुझे ठीक नहीं करोगे वो भाई सद्भाव में आ गई वही छोरा वृंदावन का दो पांच रुपया रोज लेवे और कृष्ण ने उसको क्या सूझी उसने पैर रखा और उस सचमुच में कुबड़ी बाई दी होगी कब किसको किस द्वारा कैसे भगवान क्या बख्शिश दे दे क्या अनुदान दे दे इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता कृष्ण की कुब्जा तो सुनी कि कृष्ण ने किया कृपा लेकिन वो बिंद्रावन का छोरा जो कृष्ण बना उसमें तो कृष्ण का कोई सामर्थ्य नहीं है लेकिन वो बाई को माता जी को ठीक कर दिया उसने आगरा शाहगंज छमछम गली कृष्ण गौशाला में आया बाबा आंखें खराब है बाबा ने कहा जाओ आंकड़े का दूध डाल दो आंखें ठीक हो गई अब बाबा का वो कोई परिचित नहीं था कोई तो कैसा भगवान बाबा के द्वारा छोरे के द्वारा अपने अंतरात्मा के द्वारा बापू के द्वारा कब किस्सा कैसा एकदम प्रमोशन कर डालते हैं जब तब किया तो अच्छा है लेकिन ऐसे उठा लेते बड़ा आनंद बड़ी शांति बड़ा रस बड़ा ज्ञान ध्यान बड़ी सूझबूझ जिनको कमजोरी हो वो आंवले के रस में थोड़ा घी डाल देना गाय का शुद्ध घी अहमदाबाद से मिल जाएगा शुद्ध घी भारत और मिसिस भारत मिसिस भारत घी नहीं लेवे खाली आंवले का रस लेवे भारत आंवले के रस में घी डाले एकदम फिर से जवान बनाऊंगा भरत को और मिसिस भरत मूली का रस डेढ़ सौ ग्राम मूली के पत्तों का रस अदरक दस ग्राम थोड़ा सा नींबू क्योंकि शरीर पकड़ता है इसलिए थोड़ा बोलता हूँ नहीं तो एक पूरा नींबू चाहिए वो ले तो फैट कंट्रोल हो गया और नीता वैद्य से सलाह करके एक दो पानीपथ में दस पाँच दिन भर्ती हो जाए पंचकर्म करके शरीर को ठीक कर दे एकदम जवान बना देता हूँ पहले भी जवान बनाई था बनाया था तेरे को आपकी मिसिस को पहले भी जवान बनाया था क्योंकि इसकी आदत गंदी है ना खाती ऐसा है बनाती ऐसा है कि मैं बीमार हो जाऊं मैं तो खाता ही नहीं इसके हाथ का गंदी आदत है अभी भोग रही ये सब बंद कर दो खाने की रीत है ना उसी से बीमार हुई विशुद्धिकरण करो मूंग पे रहे जौ मूंग वापरे खूब उसे खाने पीने में परहेज करें नहीं तो डॉक्टर करोड़ों रुपया लेंगे तो भी ठीक नहीं कर सकते खाने की आदत बदले और लोग भी ठान लो समय बीता जा रहा है मैं भी सदा ऐसा आपके बीच में इतना टाइम नहीं दूंगा अब अपना काम बना लो जल्दी सर्टिफिकेट पा लिया जॉब कर ली फलाना कर लिया झंझट में पढ़ो ही मत ईश्वर को पालो बाकी सब हो जाता है ईश्वर से बढ़कर और कोई योग्यता है तो बताओ बस ईश्वर को अपना मानो हे हरि हे गोविंद हे प्रभु हे अच्युत हे प्रभु क्या पता कब जज जाए कब सुन ले वे उठा के ऐसे रख देगा कि बस बड़े बड़े पंडित बड़े बड़े विद्वान रावण जैसे बड़े बड़े तपस्वी पीछे रह जाते और शबरी को उठा के रख दिया ऊपर रहीदास को उठा के रख दिया मैं क्या करूं मैं क्या करूं बस पुकारो बस अब मैं क्या करूं अब इतना क्या बाकी है अरे कोई मजूरों का रास्ता नहीं है तो ईश्वर की कृपा का है बस तो जच जाए तो यूं कर ले चुटकी में ओम हरि हरि ओम हम कर करके तो हजार जन्म लेते तभी भी ऐसी अवस्था नहीं आती बस जच गई भगवान को गुरु जी को गुरु भगवान जो बोलो वही है ऐसा दे डाला के बाहर आलसी मत रहो और उद्देश्य हल्का मत बनाओ बस उद्देश्य ऊंचा बना लो ईश्वर प्राप्ति भगवत प्राप्ति बोले हमारी योग्यता नहीं हमारे में ऐब ऐब हम हैं ऐब हैं दुनिया भर की गंदगियां हैं लेकिन तुम्हारी ताकत से गंदगियां बड़ी है तो हम डर जाए तुम्हारी ताकत के आगे हमारे ऐब की कोई ताकत ही नहीं महाराज तुम्हारी कृपा के आगे हमारे दोषों की कोई ताकत नहीं दुनिया भर के सभी दोषी और पापी आदमी मिलकर भी इतनी उनके दोषों और पापों की ताकत नहीं जो भगवान को दबोच दे अगर भगवान को दबोच दिया होता तो भी हम इधर नहीं होते भगवान का प्रभाव ज्यादा है इसलिए हम इधर है है भाई भगवान का प्रभाव ज्यादा है तभी हम इधर हैं दोषों का प्रभाव ज्यादा होता तो हम इधर नहीं होते कृपा का प्रभाव ज्यादा है हमारे पाप का प्रभाव से भगवान की कृपा का प्रभाव ज्यादा है स्वीकार कर लो बस हे हरि हे हरि हे प्रभु हे दयालु हे देव ओम ओम ओम ओम ओम नारायण नारायण है श्वास रोक के इतना रोको इतना रोको के बस अब दम निकला और उसमें ये जपो और फिर धीरे धीरे श्वास छोड़ो दो चार श्वास लो फिर श्वास बाहर इतना छोड़ो पचास साठ सेकंड कि अब नहीं लेंगे तो प्राण निकलेंगे ऐसे दो तीन प्राणायाम करो कोई रोग की ताकत नहीं कि टिक जावे लो कितना बढ़िया फार्मूला है किसी रोग की ताकत नहीं जो टिक जावे डेढ़ मिनट श्वास रोको पुकारो जो जपते हो भगवान का नाम श्वास रोक के जप पसीना पसीना हो जाए दो तीन श्वास बस एक श्वास अंदर रोका सवा मिनट से के डेढ़ मिनट तक जहां भी रोक के कण छुपे इधर उधर सब अभी दो पांच दिन से मेरा अनियमित चल रहा है अनियमितता तो शरीर बीमार होते होते भी ठीक हो जाता है खाने का सोने का आसन का प्राणायाम का कोई नियम निकाल एकदम फिर भी बीमार नहीं पड़ने देते सांस को रोका सवा मिनट से डेढ़ मिनट भरत कर सकते घड़ियाल रख के वो भी कर सकती मिसेज भारत